श्री गणेशाय नमः सर्वे पृथुखिनस्सन्तु सर्वे सन्तु श्रीरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभा भवेत् धेयस्य विराजते हि गरलम् मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नन्दिस्कन्धगणाधिनाथसहितः केदाराञ्चन संस्थितो हि सततं पुर्यात्सदा मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडः मङ्गलं पार्वतीनाथः सर्वमङ्गलम् आत्मा तं गिरिशामति सहसदा शरीरम् गृहम् पूजातिविषयोपभोगरचना निद्रासमाधिस्थितिः सञ्चारपदयोः प्रदत्ति न विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् कर्म करोमि तत् तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णम् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पदम तत्परिमार्जितव्यम इस गीता के वचन में जो असंग शस्त्र माना गया है वह क्या है और उसके पीछे जिस मार्ग की खोज करने को कहा है वह क्या है दुख नहीं कहता सुख कहता एक स्थिति को पटमन को या जुए को यदि हम छेड़ना चाहें तो वो वहां से भागने का प्रयास करता है इसका अर्थ है कि वो जिस क्रिया में जिस स्थिति में सुख का अनुभव करना चाहता है उससे छूटना चाहता है जीवन में पहली बात तो ये आनी चाहिए कि मनुष्य अपने दुख को सुख को समझे और उसे छूटने का प्रयास करें क्या जिससे आपको दुख होता है उसको छोड़ने के लिए सजग है चाहते तो है कि हमको दुख न हो और सुख मिले दुखम में महाभूत सुखम में भूया सुखम में भूया दुखम में माधु मुझे सुख मिले दुख मिले अब दुख कहाँ मिलता है और सुख कहाँ मिलता है तो सुख माने होता है निर्मल होता है हम हृदय गगनम गगनम दसमा तत्व सुखम जैसे आसमान में बादल छा जाते हैं आधी चलने लगती है धूल होने लगती है गर्मी पड़ने लगती है तो आकाश सुख रूप नहीं रहता है दुख रूप हो जाता है इसी प्रकार जो हमारे हृदय में लोभ के बादल बढ़ते हैं जब काम की आंधी चलती है जब क्रोध की आग जलती है तो हमारे हृदय में ही हमको दुख का अनुभव होता है दुख कब होता है जब हमारे मन के अनुसार कोई काम ना हो हम चाहे वर्षा न हो और बोले हम चाहे ठंड न पड़े और पड़े हम चाहे कि हमारी स्त्री हमारे मन के अनुसार चले और न चले हमारा पुत्र हमारे मन के अनुसार चले और न चले तो दुख होगा तो जहाँ जहाँ मन अपने मन के अनुकूल वस्तु होती है क्रिया होती है भाव होता है संबंध होता है वहाँ सुख होता है और जहाँ अपने मन के प्रतिकूल वस्तु होती है क्रिया होती है संबंध होता है भाव होता है वहाँ दुख हो जाता है दुख के कारण पर आप विचार करके देखें तो मालूम पड़ेगा कि आपकी ये जो जिद है दुराग्रह है कि मेरा मन ही ठीक है और सब मेरे मन के गुलाम हैं मेरे विचार ही ठीक हैं दूसरों के विचार गलत हैं से मुक्त होने के लिए दुख से छूटने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी आसक्ति कहाँ है अब आजकल के बालक हैं वो चोटी नहीं रखना चाहते और माँ बाप चाहते हैं कि इनको चोटी रखने के लिए तो दुख हो जाता है पति चाहता है कि पत्नी बाजार में जाके इतना सौदा न खरीदे और वो खरीदती है तो दुख हो जाता है पत्नी चाहती है कि हमारी पतिदेव हमारे पतिदेव हमारे इशारे पर संकेत पर काम करें और पतिदेव नहीं करते हैं तो दुख हो जाता है तो इसमें हमको करना क्या चाहिए पत्नी के इशारे पर पतिदेव नाचे कि पतिदेव के इशारे पर पत्नी मशीन बन जाए ये जो अपने अपने विचारों इच्छाओं संकल्पों का दुराग्रह होता है वो पूरा न होने पर हमारे हृदय में दुख हो जाता है अब इसमें इस दुख से बचने का उपाय क्या है क्या कोई पुरुष पूरी तरह से किसी स्त्री के अनुकूल हो सकता है या कोई स्त्री किसी पुरुष के अनुकूल हो सकती है या बच्चे बाप दादा के अनुकूल ही रह सकते हैं ये अविचार की बात है आप स्वयं सोचिए कि आपके दादा अगर पगड़ी बांधते होंगे जिससे तो आपने बांधी आपके पिता गांधी टोपी लगाते होंगे तो आप लगाते हैं जैसी धोती वे पहनते थे वैसी धोती क्या आप पहनते हैं तो जो सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है उसको जब आप विचार की दृष्टि से देखेंगे तो 25 वर्ष पहले माँ का जन्म हुआ और बाप का और 25 वर्ष बाद बेटे का बेटी का जन्म हुआ बीच में समय आ गया 25 वर्ष और 25 बरस का बेटा हो गया पचास बरस का समय हो गया दोनों के जन्म में अंतर पड़ गया दोनों के समय में अंतर पड़ गया आचार में अंतर पड़ गया व्यवहार के अंतर में पड़ गया अब आप पचास वर्ष पहले वाले या पच्चीस वर्ष पहले वाले विचारों में यदि फंस जाएंगे आसक्त हो जाएंगे तो अब वैसा तो होगा नहीं और वैसा न होगा न रहेगा और आप अपने भीतर ही भीतर खुलते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे हमारे कई पुराने लोग हैं इस बात से दुखी रहते हैं कि अब उनका बेटा घी नहीं खाता है तो क्योंकि पहले बाप दादा घी में बुद्धि मानते थे घी में शक्ति मानते थे घी में आयु मानते थे अब डॉक्टर लोग बताते हैं कि नहीं इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है, है? तो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा बीमार पड़ जाओगे अब बुद्धे लोग इसलिए दुखी होते हैं कि बेटा घी दूध नहीं खाता है और बेटे लोग कहते हैं ये हमारे बाप ज्यादा घी दूध खा खा के मोटे हो रहे हैं है? हाँ, पत्नियां हमको कहती हैं महाराज इनको आज्ञा कर दीजिए कि ये अपना वजन घटा रहे हैं पत्नियां ऐसे बोलते हैं तो।, तो ये जो हम पिछली बातों को बहुत अधिक पकड़ते हैं थोड़ा पकड़ना चाहिए जो उपयोगी है जो हित का है वो तो पकड़ना चाहिए और जो अपने अहित का है उसको छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए आप भगवान श्री कृष्ण की लीला देखते हैं सात बरस के श्री कृष्ण और सतासी बरस के नंद बाबा ऐसा ब्रज में बोलते हैं सात के कृष्ण और सतासी के नंद बाबा अस्सी और तक कृष्ण ने आके कहा बाबा तुम स्वर्ग के इंद्र की पूजा करते हो उसके लिए हमारा दही हमारा दूध हमारा घी हमारे घर का खाना पीना सब उसके नाम पर खर्च करते हो नहीं नहीं गायों की पूजा करो ब्राह्मणों को खिलाओ अपने जो परिवार के लोग हैं वो हंसते हैं नाचते हैं खेल हैं कूद हैं और महाराज नंद बाबा ने सात वर्ष के बच्चे की बात मान ली जस गई और यदि नंद बाबा अपनी दादी दिखाते तो देखो ये सूप में सफेद नहीं हुई है यूं ही नहीं पड़ी है हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से इंद्र की पूजा करते रहे हैं तो उनको भी करनी पड़ेगी अब वही महाराज बाप बेटे में मतभेद हो जाता तो अखंड सत्रह सत्र का कि जो गलत चीज है उसके प्रति आपकी आसक्ति ना हो असंग असंग माने अनासक्ति ये है शस्त्र तो जो चीज गलत है उसको छोड़ने के लिए तैयार रहिए अब यहाँ जो प्रसंग है ये दुनिया बदल रही है बोला ये संसार बदलता रहता है ये जो नदी में पानी रहता है लगता है कि जो कल था वही आज है ये जो आम पेड़ में फलते हैं तो वो कब बढ़ जाते हैं इसका पता नहीं चलता है दिया जलता है लगता है ना कि बल्ब वही जल रहा है पर ये तो यूनिट पर यूनिट पता चल रहा है नई नई रोशनी आ रही है नई नई बिजली आ रही है ऐसी ये जो मनुष्य का शरीर है ये क्षण क्षण में बदलता है प्राचीन ग्रंथों में तो लिखा है कि सात वर्ष के भीतर तो शरीर बिल्कुल नया हो जाता है तो जब ये बदलती हुई दुनिया को लड़खड़ाती हुई दुनिया को पकड़ के रखना चाहते हैं तब उससे हो गया संग संग माने हम उसके साथ चिपक गए संजन हो गया मछली चारा लेने के लिए चली और मुंह में ऐसा चारा ले दिया कि जो कांटा लगा था वो कर गया उसके मुंह में और पकड़ गए एक जो चिड़ियों का शिकार करते हैं चिकोनी बनाते हैं तो उसमें गोंद लगा देते हैं रख देते हैं चारा जब चिड़िया चारा लेने के लिए जाती है तो उसके पंखों में गोंद लग जाती है और उड़ नहीं पाती है पकड़ी जाती है इसी प्रकार जिसके जीवन में संसार की वस्तुओं से आ सकती है उसको दुखी रहना पड़ेगा बदलने में अपनी बुद्धि हमेशा तैयार रहने के लिए कि ईश्वर की शक्ति से प्रकृति से राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति से जो परिवर्तन होता है उसको हम समझदारी के साथ जो हित में है उसको स्वीकार करें उसके साथ मछली की तरह या चिड़िया की तरफ चिपक न जाए हाथी हथनी के साथ चिपक जाता है तो खड्डे में गिरता है और मारा जाता है तो पुरानी बातों में तो छिपके नहीं और नई बात को विचार करके ग्रहण करते चले ऐसी अपनी बुद्धि होनी चाहिए पुराण वित्तीवन साधु सर्वम न चापि सर्वम व्यम कोई पुरानी बात है इसलिए सही नहीं होती है कोई नई बात है इसलिए पूरी नहीं होती संत परीक्षा अन्य तरफ भजनते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि जो सत्पुरुष है वो परीक्षा करके बुरे को छोड़ते हैं अच्छे को पकड़ते हैं और जो मूड होते हैं वो कुछ सोचते विचारते नहीं जैसे भेड़ गणेश बोलते हैं जिसके कंबल जिसके बाल से कंबल बनते हैं हाँ वो जैसे ही चलती है तो एक दूसरे के पीछे एक दूसरे के पीछे अगर अगड़ी कुएं में गिर जाए तो पिछली भी कुएं में गिरती है इसलिए असंगता का अर्थ है परिवर्तन को स्वीकार करने का सामर्थ्य व्यवहार है और परिवर्तन से अलिप्त रहना साधना है अब कोई कहे कि हमारे बाल काले रहे एक महात्मा के बारे में उनके चेहरों ने अफवाह उड़ा दी ये बुद्धे नहीं होंगे कभी तो हमेशा तो जवान रहेंगे अब जब उनके बाल पतने लगे तो भगत लोग सवेरे आके उसके सिर को देखे और उसमें जो सफेद बाल मिले उसको कैंची से काट दे कितने दिन तक काला बाल रखेंगे कितने दिन तक जवानी रहेगी तो ये संसार में जो परिवर्तन हो रहे हैं दृश्य में जो परिवर्तन हो रहे हैं प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं और राजनीति में समाज में मनुष्य में पशु में पक्षी में उस परिवर्तन में चिपकना नहीं लिप्त नहीं होना संग नहीं करना ये है शस्त्र और ये आपके पास रहता है अस्त्र उसको कहते हैं जिसको फेंक के भी मारा जाता है और शस्त्र उसको कहते हैं जैसे तलवार है भाला है अपने हाथ में रहता है तो ये शस्त्र आपको असंगता का शस्त्र मिला हुआ है आप इसको अपनी बुद्धि में रखिए और कहीं भी दृश्य में क्योंकि दृश्य परिवर्तनशील है और इसको ढूंढना है वो चीज जो बदलने वाली नहीं है नित्य है तो तथा पदम परिमार्गित अभियान असंग शस्त्रेण दृढ़ छिपवा असंग शस्त्र भी चाहिए दृढ़ पुराणों में कथा आती है एक महात्मा थे वो राजा मान माता की परीक्षा करने के लिए इसके हृदय में कैसी श्रद्धा भक्ति है उसके पास गए दाढ़ी तो बहुत बड़ी थी शरीर कांपता था पेट खिंचता हुआ था कमर लटक गई थी जगमगाते हुए चलते थे उन्होंने हमान से कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो मान धाता तो ये बात नहीं जची नहीं जची और सोचा कि इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये साथ दे देंगे तो महाराज आप लड़कियां जहाँ रहती हैं चले जाएं जो लड़की आपको पसंद कर लेगी उसके साथ आपका ब्याह कर देंगे अब वो गए महाराज तो पचास लड़कियां थी रविवास में सबने कहा मैं इनसे ब्याह करूंगी मैं इनसे ब्याह करूँ क्योंकि वहाँ जाके विद्वान हो गए सुंदर हो गए स्वस्थ हो गए विद्या बुद्धि संपन्न हो गए महाराज पांच हजार बरस तक पहले तो गए थे परीक्षा लेने के लिए श्रद्धा भक्ति उसके बाद गए अपनी सिद्धि दिखाने कि देखो हम जवान हो गए और परीक्षा लेने में सिद्धि दिखाने में ऐसे बंधे कि पांच हजार तक उनके बच्चे इकट्ठे हो गए हाँ, तब तक उनको पता ही नहीं लगा कि कब दिन बीतता है और कब रात बीतती है असल में संग बहुत बड़ा दोष है यदि आप जुआरी का संग करोगे तो एक आध दाव आपसे खिला देगा यदि आप दूसरे का संग करोगे तो आपको झूठ बुलवा देगा यदि आप अनाचारी व्यभिचारी का संग करोगे तो उसका असर आप में आवेगा यदि आप इस बदलती हुई दुनिया से परिवर्तनशील सृष्टि से यदि संग करोगे तो आपको भी संगी बना देगी इसी की तरह जीवन इसी की तरह मृत्यु इसी की तरह परिवर्तन आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आप दुखी रहने लगेंगे इसलिए संग को छोड़िए क्यों छोड़िए तो विचार करने पर न रूप मच्छी है तथोपलभ्य थे नान्तो न जाजिर न तम प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा अश्वत्थ माने पीपल का या बर का पेड़ होता है दोनों ही है और न स्वस्थ जो कल तक नहीं रहेगा आज है कल नहीं रहेगा उसको अश्वत्थ कहते हैं तो आप किसके साथ आसक्ति कर रहे हैं अश्वत्थे वो निषदनम पढ़ने वो वसते कृता वे भगवान कहते हैं कि आप पीपल के पेड़ पर रह रहे हैं और उसके पत्ता उसके पत्ते पर आपका निवास है एक बूंद पानी जैसे उस पर रखा हुआ हो कब पत्ता हिलेगा और वो पानी गिर जाएगा ऐसी आपके शरीर की स्थिति है तो इस संसार का रूप क्या है तो विचार करने पर कुछ सिद्ध नहीं होता ऐसा नहीं है जैसा दिखता है जो गोरा दिखता है गोरा नहीं है जो काला दिखता है वो काला नहीं है जो चिकना दिखता है वो चिकना नहीं है जो है दिखता है वो है नहीं है न रूप मत्स्य तत्वोपलब्ध है न अंतो न इसका अंत है न आदि है माने आदि मध्य अंत से ये संसार बिल्कुल रहित है तो इसकी जड़ ऐसी अपनी बुद्धि में जम गई है कि बिना असंग शस्त्र के इसका छेदन नहीं हो सकता हम दुख से तो बचना चाहते हैं और बेवकूफी से चिपकना चाहते हैं जड़ जिसका जड़ से प्रेम है वो अंततोगत्वा जड़ हो जाएगा जिसका चेतन से प्रेम है वो चेतन से एक हो जाएगा तो पहले जड़ता की ओर से अपनी आसक्ति को हटाइए और ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन की पूजा उस ईश्वर से प्रेम कीजिए उस परमात्मा से प्रेम कीजिए उस आत्मदेव को जो छिपे हुए हैं उनसे प्रेम कीजिए उनको ढूंढिए भी कहाँ हैं आप जानते हैं संसार में देखते तो सबको है काले को भी गोरे को भी कपड़े भी लाल भी पीले भी सफेद भी सब देखते हैं पर देखने वाली जो आंख है हाँ, इसके बारे में कभी विचार किया है इस आंख के भरोसे में बैठ कर कौन झांक रहा है अब तक कितने स्त्री पुरुष कितनी बरसात कितनी शरद कितनी हेमंत कितने ग्रीष्म बीत गए समुद्र में कितने ज्वार और भाका आए नदी कितनी बह गई परंतु इन आंखों के भीतर बैठ कर जो झांक रहा है देख रहा है उसकी ओर आपने कभी देखा वो कौन है वो हाथ है लाल काला पीला आपकी आंख को नहीं देख पाते आपकी आंख लाल काला पीला नीला देखती है लोग भी आपको नहीं देख पाते हैं वो आपकी आंख का जो चश्मा है ऊपर से जो एक पर्दा लगाया हुआ है काला या सफेद उसको देखते हैं उसके भीतर से जो देखने वाला है उसको नहीं देखते हैं तो बदलती हुई दुनिया में जो न बदलने वाला है अशरीरम शरीरेशु अनवस्थेश अवस्थितम महानतम भृगुमात्मानम मतवा जीरो न सोचती आप जब देखेंगे कि शरीर के भीतर बिना शरीर का कोई है जो देखता है बदलती हुई दुनिया में न बदलने वाला कोई है जो बदलती हुई दुनिया को देखता है वो छोटा नहीं है महान व्यापक अपना आत्मा है अपना आपा ही है जब ये विचार आप कर लोगे तो सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी न सोचक न तो संसार की किसी जाने वाली बदलने वाली मरने वाली मिथ्या परिस्थिति से आपका संग रहेगा न संग होगा और न तो आप दुखी होंगे तो ये जो बाहर की जड़ता दृश्य परिवर्तनशील अनित्य दुखदायी वस्तुओं के साथ जो अपना संग हो गया है वो छूटना चाहिए और इस नित्य में नित्य क्या है नित्य और नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहु नाम जो की कामान उस परमात्मा को उस आत्मा को ढूंढिए क्योंकि उसके साथ बदलना नहीं है जीना मरना नहीं है जाना आना नहीं है जसमिन जता न निवर्तन से भूया वहां से नारायण लौटना नहीं है ऐसा कौन है तो ऐसा आपका आत्मा है और वो मरने के बाद नहीं इसी समय है ये सब जो परमार्थ की बातें कही जाते हैं वो मरने के बाद वाली जो बातें हैं वो तो पादरियों के जिम्मे है कि वो चिट्ठी लिख के दे देंगे और आप स्वर्ग में चले जाओगे हाँ। मरने के बाद जो स्वर्ग है नरक है वो कुंवरिकों के जिम्मे है ठीक है वो आपसे दान करावेंगे वहाँ भेज देंगे हाँ, वो मौलवियों के जिम्मे है हाँ, आपसे सिजदा कराएंगे प्रार्थना कराएंगे नमाज पढ़ाएंगे और वे आपको बृहस्प में या दुर्जक में भेज देंगे वो बात दूसरी है ये जो हमारा वैदिक परमार्थ है वो आपसे दूर नहीं है वो स्वर्ग में नहीं है यही है उसके मिलने में देर नहीं है वो मरने के बाद नहीं मिलेगा अभी है और वो दूसरा नहीं है वो आपका अपना है अभी है यही है यही है आप ही है तथा पदम तक परिमार्ग तब जम करते आप उसको जानिए और अभी अभी आनंद में मग्न हो जाइए यहाँ उधार सौदा नहीं है बिल्कुल नगद है आज ही लीजिए और अभी लीजिए भगवान नाम का जप और संकीर्तन मानसिक शक्ति और शांति प्राप्त करने में किस अंश में सहकारी है <coughs> हंड्रेड ऐसा है जी कि यदि आप अपने जीवन में एक नियम धारण करते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ेगा कष्ट सह लीजिए आप नियम कीजिए कि इतना जप किए बिना इतनी पूजा किए बिना पूजन नहीं करेंगे अब जिस दिन जब करने में देर हो जाए उस दिन थोड़ा कष्ट सहिए तो जब आप कष्ट सह के अपने नियम का पालन करेंगे तो आपका मनोबल आत्मबल बढ़ेगा जो तकलीफ सहने को तैयार नहीं है उसका मन कमजोर हो जाता है ये तो एक साधारण है अब आप दूसरी बात देखिए आप किसी पर श्रद्धा कीजिए कि वो हमारी रक्षा करे युद्ध भूमि में एक सैनिक है लड़ते लड़ते लड़ते गिर पड़े लेकिन बंदूक सीधी रही क्यों सीधी रही और उसको विश्वास था कि हमारे पीछे सेनापति है हमारे पीछे राष्ट्र है हमारे पीछे राष्ट्रपति है और सेना आवेगी सहायता आवेगी और हम इस युद्ध में विजयी होंगे आप जो भी काम करें उसमें आपके पीछे आपका शास्त्र है संविधान है आपके गुरु हैं आपका ईश्वर है वो आपकी सहायता करेगा तो जब श्रद्धा आपके जीवन में बनी रहेगी तो आपका मनोबल भी बना रहेगा नियम पालन से मनोबल बढ़ता है श्रद्धा से मनोबल बढ़ता है और अपने शरीर के और लोगों को जब देखते हैं हाँ, कहीं चले जा रहे हैं बड़े दूर से भी आए नाव पर जा रहे नाव डावाडोल होने लगी तो मन में आने के अच्छा भाई जो सबका होगा वही हमारा भी होगा दस को देख के दस को देख के अपना मन जो है वो बलवान हो गया तो अपने मन को बलवान बनाने के लिए जीवन में चाहिए नियम का पालन सदगुरु पर ईश्वर पर होनी चाहिए श्रद्धा अपने साधन का होना चाहिए विधि पूर्वक अनुष्ठान आप देखो राम राम बोलते हो तो राम राम बोलो शिव शिव बोलो हमारे तो कोई राम शिव में कोई भेद नहीं है आप ओम बोलो सोहम बोलो मन लगे कि न लगे पहले इस बात को देखें क्या आपकी जी हिलती है आप तो यहाँ सुनते हैं वेदांत जीव अन्नमय कोष है और चेतन इसमें बैठ करके जीव वाला बन गया है चीज अपने आप नहीं हिलती है हिलाने वाले के होने से हिलती है आप बोले राम राम राम हमने विष्णु दिगंबर के मुंह से सुना था राम राम राम राम राम राम राम सात बार राम राम राम राम राम राम राम राजा राम राम राम राजा राम राम राम तो कीर्तन करो दूसरे सुनेंगे बोलेंगे तो उसका नाम कीर्तन हो जाएगा और आप ही सुनेंगे आप ही बोलेंगे तो उसका नाम